تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله أي محبت کے ساتھ अल्लाह रब्लमीन की बारगाह में ईमान की मोहब्बत के साथ हम ये दुआ तीन दफ़ा करते हैं अल्लाह हमें ईमान की सलामती अता फरमा या मुकल्लब अलकलूब सबित अला दीनक या मुकल्लब अलकलूब सबित अला दीनक या मुकल्लिब अलकलूब सब कल्बी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजशत दर्स में इल्म गैब के मुतालिक चंद ज़रूरी बातें हमने समाप्त की थी उसमें हमने वाज तौर पर यह समझा था कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ही को कहा जा सकता है अल्लाह के अलावा किसी और को आलिम गैब नहीं कह सकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आलिम गैब हम नहीं कह सकते क्योंकि आलिम गैब के माना यह है कि जो हमेशा से जानने वाला हो जिसका इल्म ज़ाती हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ज़ाती नहीं है बल्कि अल्लाह की अता से है और हमेशा से नहीं है जब से अल्लाह ने दिया उस वक्त से है आलिमुल गैब उस जात को कहते हैं कि जिसका इल्म गैब लामहदूद हो गैर मुतनाही हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब उतना है जितना अल्लाह ने अता किया तो ये महदूद भी है मुतनाही भी है तो जब इतने फ़र्क मौजूद हैं तो आलिमुल गैब का लफ्ज़ जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए ख़ास है जैसे लफ्ज रहमान अल्लाह अज्ज वजल के लिए खास है जैसे अज्ज वजल्ला जल्ला जलालुहु ताला ये तीनों अल्फाज हम अल्लाह के नाम के आगे तो लगा सकते हैं लेकिन हुजूर के लिए नहीं लगा सकते अल्लाह ताला अल्लाह अज्ज वजल अल्लाह जल्ल जलालुहु इसी तरह रहमान इसी तरह आलिमुल गैब तो वो तमाम रिवायतें चाहे वो कुरान की आयतें हों चाहे अहदीस तय्यबा कि जिसमें ये बात वाज तौर पर कह दी गई कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह ताला है तो ये बात वहाँ पर बिल्कुल जाहिर है कि आलिम गैब सिर्फ अल्लाह ताला है इसकी वजह क्यों है इसकी वजह यह है कि ये लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए हम बोल सकते हैं और इस लफ्ज के माना है जिसका इल्म गैब जाती हो हमेशा से हो लामहदूद हो गैर मुतनाही हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब ऐसा नहीं है ये मसला अच्छी तरह जहन नशीन रहे दूसरी बात जो अहम तरीन बात गुजशत दर्स में हुई थी वो ये थी कि अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई रहमान नहीं तो उसकी वजह क्या है फिर रहमान के माना है जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला जाती तौर पर हमेशा हमेशा रहम करने वाला और वो सिर्फ अल्लाह ताला है लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि अल्लाह की अता से कोई रहम करने वाला ही नहीं रहम करने वाले तो हैं और सबसे बढ़कर मखलूक में रहम करने वाले कौन है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कुरान ने रऊफ और रहीम कहा तो हजूर सल्ला वसलम अल्लाह की अता से रहम करने वाले तो हैं मगर आपको रहमान नहीं कह सकते तो इसका यह मतलब नहीं कि आप रहम करने वाले नहीं हैं तो इसी तरह आपको अल्लाह ने इल्म गैब के खजाने जरूर दिए हैं लेकिन आपको आलिमुल गैब नहीं कह सकते तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप गैब नहीं जानते गैब अल्लाह की अता से जानते हैं मगर आपको आलिमुल गैब कहना मना है दूसरा तो अहम तरीन मसला ये बयान हुआ था कि जब रसूल सल्लल्लाहु के इल्म का जिक्र हो इल्म गैब का तो सबसे अच्छा और मुनासिब अंदाज ये है कि जुमला इस अंदाज से अदा किया जाए जिसमें अता का जिक्र हो यानी अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब दिया रसूलुल्लाह गैब का इल्म रखते हैं अल्लाह की अता से ये जुमला ज्यादा मुनासिब है ये मुस्तहब है इस तरीके से जुमला अदा किया जाए लेकिन अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म है अल्लाह की अता से और वो ये कह दे कि रसूलुल्लाह गैब का इल्म रखते हैं अकीदा वही हो लेकिन बिलफर्ज वो ये कहे कि रसूलुल्लाह गैब का इल्म रखते हैं तब भी कोई हरज नहीं है कि तो जैसे अगर आप पंद्रहवें पारे का एंड देखें जहां पंद्रहवें पारा जो ख़त्म होता है वहां पर हजरत खिजर और हजरत मूसा सलाम का एक सफ़र है तो हजरत खिजर सलाम के मुतालिक फरमा मिल्ला इल्मा ये वो बंदे थे कि जिन्हें हमारी तरफ से इल्म मिला था इल्म लदुन्नी मिला था तो हजरत खजर के बारे में तमाम ही मुफसरीन ने यह लिखा हुआ या अलमगैबा इल्म लदुन्नी से मुराद ये है कि अल्लाह ने हजरत खजर को गैब अता किया था तो अल्फाज ये हैं हुआ वो हजरत खिजर या अलमगैबा गैब जानते थे तो जो इल्म लदुन्नी मुराद है वो ये है तो अक्सर मुफसरी ने यही लिखा हुआ या अलमगैबा तो इसमें अता का जिक्र तो नहीं है लेकिन मुराद यही है कि अल्लाह की अता से जानते थे जैसे हजरत ईसा वसलाम जब अपनी ताकत का इजहार करते हैं तो कहते हैं कि मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ मैं परिंदे में रूह डालता हूँ मैं शिफा देता हूँ बी इजन अल्लाह के इजन से क्या कहते हैं अल्लाह के इजन से लेकिन हजरत जब्राइल जब हजरत मरियम के पास आते हैं मर्द की शक्ल में तो हजरत मरियम कहती हैं कि अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहां से चला जा तू कौन है तो हजरत जिब्राइल कहते हैं कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रिश्ता हूं मैं इसलिए आया हूं ली आहबा लकी गुलामन जकिया मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको एक सुथरा बेटा दूं जिब्रील ने क्या कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको सुथरा बेटा दूं अब बताइए अल्लाह के इज़न के बगैर जबरील दे सकते हैं नहीं दे सकते लेकिन यहां पर इज़न के अल्फाज तो नहीं है जबरील ने यह नहीं कहा कि मैं अल्लाह के इज़न से आपको बेटा देने के लिए आया हूं बल्कि सिर्फ ये कहा ली आहाबा लकी गुलामन जकिया मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि मैं आपको साफ सुथरा बेटा दू यहां पर बीज नीला के अल्फाज नहीं है लेकिन मतलब क्या है कि मैं अल्लाह के इज़न से दूंगा क्या मतलब है अल्लाह के इज़न से दूंगा तीसरा अहम तरीन मसला यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब बतदरीज अता फरमाया बतदरीज का मतलब यह होता है कि जैसे एक शागिर्द उस्ताद की खिदमत में जाता है तो वह बतदरीज इल्म के मराहल तय करता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बतदरीज इल्म अता फरमाया तो इल्म शहादत भी बतदरीज दिया और इल्म गैब भी बतदरीज दिया बतदरीज का मतलब ये होता है कि अगर अल्लाह के देने से पहले अगर हुजूर ना जानते थे तो अल्लाह ताला ने बाद में बता दिया तो ऐसा मुमकिन है कि कोई बात पहले पता न थी फिर बाद में अल्लाह ने बता दी चूंकि मुसलमानों का अकीदा यही है कि हुजूर का इल्म जाती नहीं है अल्लाह की अता से है और जब से अल्लाह ने दिया उस वक्त से है जब से अल्लाह ने दिया उस वक्त से है तो अल्लाह के बताए बगैर तो हुजूर नहीं जानते सही है समझ में आती है बात अल्लाह के बताए बगैर तो हुजूर नहीं जानते और फिर अल्लाह ताला ने बतदरीज अता फरमाया और हर लम्हे आपके इल्म में तरक्की हुई तो अगर कोई ऐसा वाक आपके सामने पेश किया जाए कि जिसमें यह साबित हो रहा हो बिलफर्ज कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि को इस बात का इल्म नहीं था तो आप उसका जवाब क्या देंगे भाई नहीं था तो अल्लाह तला ने बाद में अता कर दिया क्योंकि हमने हजूर को पैदाइशी अवलिन और आखरीन के उलूम का जानने वाला नहीं माना बल्कि अल्लाह की अता से माना है फिर इसको समझें अगर कोई ऐसा वाक़ सामने आए कि जिससे वाज तौर पर यह साबित अगर हो जाए कि हजूर को इस बात का पता नहीं था तो हो सकता है पता ना हो लेकिन बाद में अल्लाह तला ने बता दिया और बाद में बताने का सबूत कुरान हदीस में मौजूद है जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी आलिम के मुतालिक बात करते हैं और आप कहते हैं वो अरबी ग्रामर का बहुत बड़ा आलिम है वो फ़िका और हदीस और कुरान का बहुत बड़ा आलिम है तो दूसरा शख्स उससे कहता है कि 20 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उससे अरबी का एक लफ्ज़ पूछा था तो बहुत आसान सा लफ्ज़ था लेकिन उसको इसका माना नहीं आता था तो आप क्या कहेंगे तो बीस साल पहले वो आलिम नहीं बना था लेकिन 20 साल के बाद जब आलिम बन गया तो आलिम बनने के बाद बताओ कोई बात तुमने पूछी हो और उसे ना आती हो ये मिसाल समझ में आ गई दूसरी बात जिन वाकयात को वो पेश करते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हुजूर को पता नहीं था सारे वाकयात ऐसे हैं कि जिससे वाज तौर पर मालूम नहीं होता यानी हुजूर ने किसी वाक्य में ये नहीं कहा मुझे नहीं पता बल्कि आपने खामोशी इख्तियार फरमाई और खामोशी इख्तियार फरमाना ये हिकमत के लिए भी हो सकता है मसलहत के लिए भी हो सकता है तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह से सवाल किया गया और आपने खामोशी इख्तियार की तो ये खामोशी इख्तियार करना किसके लिए था हिकमत के लिए था मसलहत के लिए था और इसके कई सबूत मौजूद हैं मसलन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहमत तो लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानते थे कि हजरत आयशा ने यह काम नहीं किया और ना हजरत आयशा ये काम कर सकती है क्योंकि हदीस है कि अल्लाह के नबी की कोई भी बीवी ये गंदा काम कभी कर ही नहीं सकती तो इसलिए हजरत आयशा के मुतालिक हजूर को यकीन था कि हजरत आयशा ने ना ये काम किया है ना ये कर सकती हैं लेकिन आपका खामोशी इख्तियार करना और लोगों को बुला बुलाकर पूछना ये इस मसलियत की वजह से था ताकि मुनाफिकीन जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है वो ये ना कहें कि हुजूर की जोजा का मामला आया तो हुजूर तहकीक नहीं करते तो हजू सल्लाम ने उनको बताने के लिए और जिन मुसलमानों को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी जो कमजोर ईमान वाले थे उनके ईमान को बचाने के लिए कि देखो एक महीना गुजर गया अगर ये मुनाफिकीन सच्चे होते तो कोई सबूत पेश करते देखो एक महीने में उन्होंने कोई गवाह पेश नहीं किया और जिस तरह उन्होंने कहा उस तरह मैंने तहकीकात कर ली किसी तरीके से भी जुर्म साबित नहीं होता और फिर सत्रह आयतें कुरान की नाजिल हो गई अगर रसूलुल्लाह बता देते तो बताइए फिर सत्रह आयतें कैसे नाजिल होते हैं तो इसमें हिकमत देती हैं इसी तरह नबी अक्रम सल्लाम वो तयम वाला मसला कि हजरत आयशा का हार खो गया सवा करम ढूंढते रहे और फिर नमाज का वक्त हुआ वजू के लिए पानी नहीं था तो तयम की आयत नाजिल हुई फिर जब ऊंट को उठाया गया तो हार उसके नीचे से निकला तो अगर हुजूर बता देते कि हार इसके नीचे है तो फिर बताइए कि तयम वाली आयतें वहां पर कैसे नाजिल होते एक और मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अव्वलीन आखरीन का इल्म दिया लेकिन ये मुमकिनात में से है कि किसी मसलहत की खातिर अल्लाह तबारक व ताला आपकी तवज्जो हटा देते ये मुमकिन है इसका मकसद क्या होता है मकसद ये कि उम्मत के लिए रहनुमाई हो मसलन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर नमाज पढ़ाई तो आपने जो नमाज पढ़ाई उसमें रकतों में शुबह हुआ तो आपने फिर दुरुस्त नमाज पढ़ने का तरीका बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर आपकी तवज्जो हटाई गई और मुहदसिन ने लिखा उस वक्त आप फना फिल्ला के उस दर्जे पर थे कि अल्लाह की ज़ात सिफात में ऐसे आप मुस्तरक हुए कि इस तरह से तवज्जो आपकी हटा दी गई और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ हमें प्रैक्टिकल तौर पर एक तरीका मिल गया कि नमाज में अगर किसी को रकतों में शुबा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए सवाल यह कि हजूर सल्ला वसलम के साथ ये मामला पेश ना आता हजूर मसला बता देते हैं आप जानते हैं गुफ्तगु इतनी याद नहीं रहती जितना प्रैक्टिकल याद रहता है इसीलिए आप देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हैं उनमें कौली अहादीस कम है फेली अहादीस ज्यादा है आपके फरमान कम मिलते हैं आपके अफाल ज्यादा मिलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल से बात वो अच्छी तरह याद रहती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया कि मस्जिद में जिस पर गसल फर्ज हो वो मस्जिद में दाखिल ना हो जिस पर गसल फर्ज हो वह मस्जिद में दाखिल ना हो लेकिन मैं मुस्तना हूं और अली को भी मैं मुस्तना करता हूँ अली भी दाखिल हो सकते हैं और मैं भी दाखिल हो सकता हूँ अकेद जहां सल्ला वसलम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए तकबीर हो गई मुसल्ले पर जलवा अफरोज हो गए और फिर आपने साहब कराम से फरमाया ठहरो फिर आप तशरीफ ले गए और आपने गसल फरमाया और फिर आपने फरमाया कि मेरी तवज्जो हटा दी गई थी मुझ पर गुसल लाजिम था तो आप बताइए कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि तो जानते थे कि नहीं कि मुझ पर गुसल लाजिम है लेकिन जानने के बावजूद किसी मसलहत की खातिर आपकी तवज्जो हटा दी गई अच्छा फिर इसमें भी फर्क समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद बाला है आपका कोई फेल और हमारा फेल दोनों बराबर नहीं हो सकते हम अगर नमाज में भूलते हैं तो क्यों भूलते हैं गुनाहों की वजह से दुनिया के ख्याल की वजह से और अल्लाह के नेक बंदों की तवज्जो नमाज में रकतों की तरफ से हटती है तो अल्लाह के मोहब्बत में गुम होने की वजह से इस इस्तरा की कैफियात की वजह से जन्नत के जलवे देखने की वजह से फिर उनकी तवज्जो हटने में हमारे लिए क्या होती हैं हमतें होती हैं इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और कहा कि हमें सत्तर कारी दे दें जो कुरान के आलिम भी हों कुरान पढ़ने वाले हों हम उन्हें ले जाएंगे और वो हमारे इलाके में तबलीग करेंगे तो उन्होंने उन सत्तर कारियों को शहीद कर दिया तो इसमें सवाल यह है कि रसूलुल्लाह जब जानते थे तो आपने इन सत्तर कारियों को भेजा क्यों क्या मरवाने के लिए भेजा तो उसका जवाब यह है कि बताइए कि अल्लाह ताला तो जानता था अल्लाह ताला तो जानता था और जानता है कि ये सत्तर को शहीद कर देंगे तो जिब्रील भेजने में देर लगती है जिब्रील की परवाज कितनी है यानी आप जो तस्वुर करें उससे भी तेज परवाज है कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया जिब्रील से कह जिब्रील तुमने कभी बहुत तेजी से परवाज की है तो उन्होंने कई मौाक़े में से चार मौाक़े गिनवाए उनमें से एक मौका ये बयान किया कि हजरत यूसुफ सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में फेंक दिया कुएं में डाल दिया अब नीचे की तरफ आप आ रहे हैं और मैं सदतुल मुंतहा पर था मैं जन्नत में गया पत्थर लिया जन्नत का और मैं उस कुएं में आया और वो पत्थर मैंने नीचे रखा और हजरत यूसुफ के गिरने से पहले मैंने उन्हें उस पत्थर पर बिठा दिया तो हजरत जबरील को आने में कोई देर नहीं लगती तो अल्लाह ताला भेज देता कि ये गद्दार लोग हैं ये सत्तर अफराद को शहीद कर देंगे तो इसकी वजह यह थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हटा दी गई इसलिए हटा दी गई इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन सत्तर के नसीबों में अजीम शान शहादत लिखी थी भाई जो वक्त मौत का लिखा है उसी वक्त मौत आती है तो अगर ये वहां ना जाते तो मदीने में इंतकाल कर जाते तो अल्लाह तबारक वाली ने उन्हें शहादत का रुतबा अता फरमाया तो इसलिए प्यारे आका की तवज्जो हटा दी गई तो तवज्जो हटना मुमकिन है लेकिन कुरान हदीस से यह साबित है कि अवलिन और आखरीन का इल्म आपको अता किया गया इसी तरह नबी अक्रम सल्लाम को बकरी का गोश्त पेश किया गया आपने एक लुकमा खाया और फिर आपने उसे छोड़ दिया और आपने फरमाया कि इस बकरी ये बकरी का गोश्त मुझे कह रहा है कि महबूब आप इसे ना खाइए मुझ में जहर मिलाया गया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आपका विशाल होने लगा तो आपने हजरत आयशा से फरमाया आयशा मुझे जो बकरी के गोश में जहर मिलाकर दिया गया था तो उसे मैंने जो खाया है वो जहर ऐसा था कि उसी वक्त बंदा इंतकाल कर जाए लेकिन अल्लाह तबारक व ने उसके असर को मौखर कर दिया और अब उसी जहर का असर जो है मुझे महसूस हो रहा है तो कहा कि उसी जहर से आपकी आपका विशाल हुआ तो सवाल यह है कि नबी अकम सल्लल्लाहु अगर जानते हैं कि इस बकरी के गोश में जहर मिला हुआ है तो फिर सवाल यह है कि फिर आपने खाया क्यों कि पता हो जहर है तो वो खाना मना है तो उसका जवाब मुहदसी ने यह दिया कि देखें एक हमारी अकल है और एक तरफ कुरान हदीस के दलाइल हैं कि जिससे यह साबित होता है कि अल्लाह ने अव्वलिन और आखरीन का आपको इल्म अता फरमाया तो कहा कि वो जो दलाइल है हम उसको इस वाक्य की वजह से रद्द नहीं करेंगे बल्कि इस वाक़े का ये जवाब दिया मोहदसिन ने कि चूंकि अल्लाह तबारा का ताली आपको हर रुतबा और मकाम देना चाहता है तो आपको अल्लाह ने शहादत भी अता फरमाई तो इसलिए आपकी तवज्जो हटाई गई तो आप शहीद भी हैं साले भी हैं यानी अवलिन और आखरीन को जो मकाम और मरतबा मिला वो आपको बतदरीज हतम मिला हाँ ये अलग बात है कि उस जहर ने फौरन असर नहीं किया क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया वल्लासिम बिनन्नास अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा तो ये चंद ऐसे वाकयात हैं इसमें या तो मसलहत की वजह से रसूलुल्लाह खामोश रहे या आपकी तवज्जो हटा दी गई बाकी जो दलाइल मौजूद हैं कि आपको अल्लाह ताला ने अव्वलीन और आखरीन का इल्म अता फरमाया और उसमें से आपने बेशुमार बातें साहबा कराम को बयान फरमाई तो ये तो इल्म गैब के उनवान से ये मौजूद था अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हजरत आयशा सदीक़ा रदी अल्लाह तहा के बारे में एक रिवायत पेश की जाती है कि हजरत आयशा ये कहती हैं कि जो ये कहे कि हजूर सल्ला वसलम कल की बात जानते हैं उसने झूठ बांधा उसने अल्लाह पर झूठ बोला तो इसका जवाब यह है कि अगर इस रिवायत को सही मान लिया जाए तो इससे मुराद ये है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तहा आप उन साहब कराम के नज़रियात की हामी थी कि जो ये कहते थे कि इल्म गैब का अगर जिक्र हो मुतलकन बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इल्म गैब का अगर मुतलकन जिक्र हो तो उससे मुराद इल्म गैब ज़ाती होता है यानी हजरत आयशा इस बात की तो कायल थी और कई रिवायतें मौजूद हैं कि अल्लाह ने हजूर को इल्म गैब दिया लेकिन वो इसकी कायल थी कि जब ये कहा जाए मुतलकन कि हुजूर के पास गैब का इल्म है और इसमें अल्लाह ने दिया ये लफ्ज ना कहा जाए तो हजरत आयशा का नजरिया यह था कि यह सिर्फ जाति के लिए बोला जाता है किसके लिए बोला जाता है जैसे आलिम गैब लफ्ज ये सिर्फ अल्लाह के लिए बोला जाता है इसलिए कि इसके माना है जाती तौर पर गैब को जानने वाला तो हजरत आयशा का नजरिया ये था कि जब ये कहा जाए ना फला कल की बात जानता है तो आप कहती थी इससे मुराद फुला कल की बात जाती तौर पे जानता है और जाती तौर पर कौन जानता है सिर्फ अल्लाह तो हजरत आयशा इस बात की कायल थी कि यूं कहा जाए हजूर अल्लाह की अता से गैब की बातें जानते हैं तो अता का लफ्ज या अल्लाह के दिए हुए से लफ्ज उनके नजदीक जो है जरूरी था तो बाज महकिन के नजदीक ये लफ्ज जरूरी है और बाज के नजदीक मुस्ताहब है दोनों बातें आपको अर्ज कर दें तो हजरत आयशा की यहां मुराद है कि जो ये कहे कि हुजूर कल की बात जानते हैं यानी जाती तौर पर तो ऐसा शख्स वाकई क्या है अल्लाह पर झूठ बांधने वाला है कि अल्लाह की अता के बगैर तो कोई कुछ भी नहीं जानता और अल्लाह अता फरमाए तो उसकी अता बहुत वसी और बहुत कसीर है ये चंद ऐसी बातें थी और इसके मुतालिक अगर मजीद तफसील जानना चाहें तो वो किताब अकीदा इल्म गैब और सही बुखारी आप इस किताब का मुताल करें जा अल हक ये भी किताब बड़ी अच्छी किताब है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहा ने लिखी जा अल हक उसमें कई सवाल के जवाब भी हैं और उसमें कई हदीसें कई हवाले भी हैं अब आइए हम थोड़ा सा इस मौजू पर गुफ्तु करें कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि का जो इल्म गैब है इसकी तकमील जो है वो कब हुई तो ये तो आप जानते हैं कि ये अहदी तय्यबा से ये बात साबित है कि अल्लाह ने आपको मखलूक की पैदाइश से लेकर क्यामत के आने तक और फिर क़यामत के बाद जो पचास हज़ार साल दिन है उसके सारे वाक़ात और जन्नती जन्नत में दाखिल हो गए जहन्नमी जहन्नम में दाखिल हो गए ये सारी बातें अल्लाह ने आपको अता फरमाई लोहे महफूज का अल्लाह ने आपको इल्म दिया जो हो चुका जो होने वाला है इसका आपको इल्म दिया अल्लाह की ज़ात व सिफात का इल्म रसूलुल्लाह को सबसे ज़्यादा है लेकिन आपको ये इल्म बतदरीज हासिल हुआ तो इसकी तकमील नजूर कुरान के साथ हुई है कि कुरान में है तिबियान लिकुल्ली शही कुरान में हर चीज़ का रोशन बयान मौजूद है तो जब कुरान की वही मुकम्मल हुई उसके साथ साथ आपको ये सारे ूम मुकम्मल तौर पर आपको अता कर दिए गए तो कुरान की वही मुकम्मल होने के साथ साथ इन ूम की तकमील है और इससे पहले अल्लाह तबारक व ताली ने जो आपको ूम अता फरमाया उसमें मजीद तरक्याँ होती रहीं और नजूल कुरान की जो तकमील हुई है वह आपके विशाल से चंद दिन पहले हुई है तो यहाँ पर मुहदसिन ने फरमाया कि चूंकि कुरान में हर चीज़ का बयान मौजूद है कुरान में अवलिन और आखरीन का बयान मौजूद है जब कुरान की वही मुकम्मल हो गई तो ये तमाम ूम आपको मुकम्मल तौर पर अता कर दिए गए लेकिन वो मसला याद रहे कि अल्लाह का इल्म इतना ही नहीं है बाद लोगों ने अल्लाह के इल्म को समझा नहीं तो वो जब इतना इल्म देखते तो कहते फिर अल्लाह के लिए इल्म क्या बचा अल्लाह और फिर हजूर का इल्म बराबर हो गया ये असल में बात यह वमा कदर हक का कदरी उन्होंने अल्लाह की शान ही नहीं जानी जैसा कि उसकी शान अल्लाह का जो इल्म है वो लामहदूद है गैर मुतनाही है देखें ये इसकी इंतहा है अव्वलीन से लेकर आखरीन तक का इल्म तो ये दो इंतहाओं में जमा हो गया और अल्लाह का इल्म किसी जगह में कैद होने से पाक है तो अल्लाह का इल्म लामादूद है गैर मुतनागी है अल्लाह का इल्म कितना है तो आप अंदाजा कीजिए कि आला हजरत का वो जुजिया हमने पेश किया था कि आला हजरत फरमाते हैं कि ये हुजूर का इल्म बल्कि तमाम नबियों तमाम रसूलों तमाम फरिश्तों तमाम मखलूक का इल्म मिलकर भी वो निस्बत नहीं रखता जो करोड़ों समंदरों से एक कतरे के करोड़वें हिस्से को हासिल होती है अल्लाह तबारक व ताली की शान बहुत बुलंद बाला है जिन्होंने अल्लाह की शान को न समझा वो महबूब की शान सुनकर ये समझते हैं कि अल्लाह के बराबर हो गए इसका मतलब क्या हुआ वमा कदर हक का कदरी उन्होंने अल्लाह की शान को समझा नहीं तो जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान हदीस की रोशनी में बयान की जाती है तो चूंकि उन्होंने अल्लाह की शान इतनी ही समझी होती है या उससे भी कम तो वो ये समझते हैं कि अल्लाह के बराबर हो गए हालांकि अल्लाह के बराबर का कोई तस्वुर हो ही नहीं सकता क्योंकि जाति और अताई में महदूद और लामहदूद में मुतनाही और गैर मुतनाही में कभी भी बराबरी हो ही नहीं सकती हाजिर नजर का मसला हाजिर नाजिर ये मसला आमतौर पर इल्म ना होने की वजह से लोग इसकी डेफिनेशन कुछ गलत करते हैं और जो बेचारे रसूलुल्लाह की मोहब्बत से दूर हैं वो भी इस मसले को गलत समझे हैं वो सवाल ये करते हैं कि देखें अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर हैं तो फिर हिजरत कैसे हुई जब मक्के में भी थे और मदीने में भी थे तो फिर हिजरत तो हुई नहीं फिर मक्के से मदीने जाने का मकसद क्या फिर मेराज का क्या मकसद जब हुजूर आसमानों में भी हैं नीचे भी हैं हर जगह हैं अगर हुजूर हर जगह हैं तो फिर तुम अपना इमाम आगे क्यों खड़ा करते हो हुजूर की मौजूदगी में कोई दूसरा नमाज पढ़ा रहा है ये सारे सवालात इस वजह से हैं कि उन्होंने हाजिर नाजिर के मसले को समझा ही नहीं हाजिर नाजिर का मसला समझने के लिए एक मिसाल से समझें ये बताइए कि आप इस वक्त अगर आपको कोई मोबाइल पर फोन आ जाए और आप देखें बड़ा अहम नंबर है तो आप उठते हैं और उठकर मस्जिद के गेट तक पहुंच जाते हैं और आपका मोबाइल तो साइलेंट होगा क्योंकि अक्लमंद आदमी तो मस्जिद में मोबाइल साइलेंट रखता है तो आप मस्जिद के गेट पर जाकर आप उससे बात करते हैं वो आपसे पूछता है कहाँ है तो आप कहते हैं मैं मस्जिद में मौजूद हूँ मैं मस्जिद में हूँ कोई शख्स अगर हमारे बारे में पूछे कि वो कहाँ है तो हम कहेंगे मस्जिद में है क्या कहेंगे मस्जिद में है तो मस्जिद में मौजूद हूं इसका उर्दू तर्जमा यानी अरबी जो तर्जमा होगा मैं मस्जिद में हाजिर हूं क्या मतलब होगा मैं मस्जिद में हाजिर हूं अब सवाल यह है कि आप मस्जिद में हाजिर हैं तो आपका जिसम तो एक जगह पर हाजिर है पूरी मस्जिद के जर्रे जर्रे में आपका जिसम मौजूद है बताइए नहीं तो सवाल करने वाला कहे कि आप मस्जिद में हाजिर हैं तो फिर जर्रे जर्रे में आपको होना चाहिए तो आप कहेंगे मेरा मतलब यह है कि मस्जिद जो है पूरी मेरे पेशे नजर है और मैं मस्जिद के अंदर हूं तो हाजिर का मतलब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि दुनिया में हाजिर हैं यानी हयात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं कब्र अनवर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अकदस में हयात हैं हाजिर हैं तो इस दुनिया में आप हाजिर हैं क्या हैं हाजिर है और आप नाजिर इन मानों में है कि पूरी कायनात आपके सामने इस तरह पेश है जैसे हथेली पर राय का दाना होता है तो जिससे हम अपनी हथेली पर बयक वक्त राय के दाने को देख सकते हैं इस तरह मेरे आका चाहे तो पूरी कायनात को बैक वक्त देख सकते हैं तो हाजिर हैं यानी रोजे अकदस में जलवा अफरोज हैं जिस्मानी तौर पर और आप पूरी कायनात को देख रहे हैं ये रूहानी तौर पर यह है हाजिर नाजिर का मतलब ये हरगिज मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें जाहिरी के साथ हर हर जुज पर मौजूद हैं ये मतलब नहीं है तो जब ये मतलब ही नहीं तो फिर वो सारे एतराज फजूल हो गए कि मेराज वाला एतराज या हिजरत वाला एतराज या इमाम क्यों बनाते हो तो क्या अकीदा है हुजूर जलवा फरोज कहाँ पर है रोजे अकदस पर सब सब्ज गुम्बद के साय तले और पूरी कायनात आपके पेश नज़र है और आप सबको देखते हैं तो देखने वाले को क्या कहते हैं नाजिर कहते हैं और हाजिर है आप इस दुनिया में हयात है और आपकी जो हयात है वो शहीद की हयात से भी आला है जो हम पहले मसला सुन चुके हैं कि शहीद जब शहीद हो जाता है तो उसकी बेवा पर इद्दत भी है और वो दूसरा निकाह इद्दत के बाद कर सकती है रसूलुल्लाह के अजवाज मुतारात पर इद्दत भी नहीं और वो हुजूर ही के निकाह में है वो उनका दूसरे से निकाह हो ही नहीं सकता तो हुजूर की हयात जो है वो शहदा की हयात से भी अफजल व आला है ये अकीदा हाजिर नाजिर का अकीदा है हाँ ये जरूर है कि अगर रसूलुल्लाह चाहे तो अल्लाह के इजन से जहां तशरीफ ले जाना चाहें आप जा सकते हैं रूह की सूरत में जाए जिसमें मिसाली की सूरत में जाए जिसमें असली की सूरत में जाए बीज निल्ला जिस तरह आप जाना चाहें जा सकते हैं और ऐसे कई वाकयात हैं कि जो बुजुर्गों ने लिखे ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार और इसी तरह बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार जैसे इमाम जलालुद्दीन सयूदी शाफी रहमा जो मशहूर बुजुर्ग हैं और 500-600 साल कबल आपकी किताबें उस वक्त से आज तक मुस्तंद हैं तो इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमा के बारे में मशहूर मरूफ ये बात है और सभी मानते हैं कि आपने पिछहत्तर मरतबा सेवेंटी फाइव टाइम्स पिछहत्तर मरतबा रसूलुल्लाह का बेदारी में दीदार किया जब भी किसी हदीस में वो उलझन होती तो रसूलुल्लाह का दीदार करते हजूर से पूछ के बताते कि यह हदीस सही है कि जयीफ है इस कदर अल्लाह ने आपको मकाम मरतबा अता फरमाए फिर आप देखें जो महराज का वाकया है रसूल्लाह की महराज जिसमानी है इसमें तो सारी उम्मत के अक्सर जो मुसलमान है मुतफिक हैं जमहूर इस पर मुतफिक हैं हजूर की महराज जिसमानी है तो आपने हजरत मूसा सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा आपने हजरत यूनुस सलाम को देखा फिर मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की आपने इमामत फरमाई और तमाम नबी जिसम के साथ वहां पर मौजूद थे फिर आसमानों में कई नबियों से मुलाकातें फरमाई तो देखें कब्र अनवर में मौजूद होने के साथ साथ ये अम्बिया मस्जिद अक्सा भी गए और बाद नबियों से आपने आसमानों में मुलाकात फरमाई तो अल्लाह के इज़न से नबी जहां जाना चाहे जा सकते हैं लेकिन हाजिर नाजिर के अकीदे में ये चीज लाजमी नहीं है कि रसुल्ला हर जगह जिसम के साथ मौजूद तस्वर किए जाए बल्कि तस्वुर क्या है प्यारे आका हाजिर हैं इस कायनात में हयात हैं रोज़ अकदस में जलवा अफरोज हैं और वहां से पूरी कायनात को मुलाजा फरमाते हैं इसकी दलील हदीस पाक मजमू जवाद किताबू अलामत नबूबा हरियतुलअलिया और कंजुल उम्माल इन तीन हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है मजमू जवायद में हदीस नंबर है one four zero six seven one four zero six seven अलामत नबूबा किताब अलामत नबूबा हिलियतुल अलिया में हदीस नंबर है सेवन नाइन सेवन नाइन कंजुल उमाल किताबुल फजाइल हदीस number three one nine six eight कंजुल उमाल किताबुल फजाइल हदीस number three one nine six eight इन अल्लाह कद रफा लियत दुनिया बेशक अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठाया फ़ाना अंदरू इलेहा तो मैं उस दुनिया को देख रहा हूँ व इला मा हुआ का इन फीहा इला योमिल क़ियामा और जो कुछ क्यामत तक होने वाला है मैं उसे भी देख रहा हूं कन्नमा अनजुरु इला कफी हादी ये मेरा देखना ऐसे ही है जैसे मैं इस हथेली को देख रहा हूँ जिलियान जलाहुल्लाबी कमा जलाहु लिनबी नमिन कबली ये उस नूर की वजह से है जो अल्लाह ने मुझे नूर अता फरमाया तो आप फरमाते हैं कि मैं जो कुछ उस वक्त हो रहा है जो कयामत तक होने वाला है सबको मैं देख रहा हूं ये बात याद रहे कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल दिखाने पर भी कादिर है तो अल्लाह ने अपने हबीब को माजी भी दिखाया हाल भी दिखाया और मुस्तकबिल भी दिखाया देखें महराज की हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में जहन्नमियों को देखा अजाबात हो रहे थे जन्नत में जन्नतियों को देखा अब सवाल यह है कि जन्नत में जन्नती कब जाएंगे कयामत के बाद और जहन्नम में जहन्नमी कब जाएंगे कयामत के बाद तो अभी तो कोई जन्नती जन्नत में नहीं गया और जहन्नमी जहन्नम में नहीं गया हुजूर ने शब महाराज कैसे देख लिया अल्लाह इस पर कादिर है कि जो होने वाला है वो अपने महबूब को पहले दिखा दे इमाम काजी अयाश अल्लामा अली कारी और अल्लामा मनावी ये तमाम जो भी हम हवाले पेश कर रहे हैं ये जिस बुजुर्ग का हम नाम पेश कर रहे हैं ये वो बुजुर्ग हैं कि जिन्हें दुनिया का हर तबका तस्लीम करता है जिन्हें मुहदस और मुफक्र मानता है जिन्हें मुफसर तस्लीम किया जाता है इमाम काजी अयाज अलामा अली कारी अलामा मनावी ने तहसीर शरा जाम सगीर जो इमाम जलालुद्दीन सयोती की किताब है उसमें फरमाते हैं अन नफूसुल कुदसिया इजा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया जब अल्लाह के नेक बंदों की रूहें जब अल्लाह का कुर पा लेती हैं और जिसम से उनका इलाका कम हो जाता है और रब की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है इतसलत बिल मलगिल आला तो ये मलगिल आला से मिल जाते हैं वलम यबका लहा हिजाबन फिर उनके लिए कोई पर्दा बाकी नहीं रहता फतरा व तस्माउल कुल्ला फिर वो हर चीज को देखते भी हैं और हर चीज को सुनते भी हैं ये एक वली के रूह की ताकत को बयान किया तो बताइए रसूलुल्लाह की शान किस कदर बुलंदो वाला है इमाम इबन हाज मक्की अपनी किताब अल मदखल सफा नंबर 259 पहली जल्द इमाम इबन हाज मक्की मशहूर मरूफ मुहदस हैं और इमाम कसलानी अपनी किताब महाइब में फरमत कद कौला ला फर्क बिन मौती व हयाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुशाहदती लि उम्मती व मारिफती बि अहवालिहिम व नियातिहिम व आज़ाइमिहिम व खवातिरिहिम कहते हैं महकिन की यह राय है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में और आपके विशाल में कोई फर्क नहीं आप जिस तरह जिंदगी में अपनी उम्मत का मुशाहिदा फरमाते थे विशाल के बाद भी फरमाते हैं और उम्मत के अहवाल इनकी नीयतें इनके इरादे इनके दिल के ख्यालात को प्यारे आका जानते हैं वजाल का जिलीफा अभी ये एक ऐसा नूर है जो अल्लाह ने आपको अता किया इस नूर की वजह से कोई चीज आप पर पोशीदा नहीं है सुर आहजाब आयत नंबर पैतालीस और छियालीस फोर्टी फाइव और फोर्टी सिक्स बाईसवा पारा तीसरा रुकू मशहूर आयत है या अयुहन नबी इन्ना अरसलना का व मुबशरम व नजीरा वदायन इल्लाही व सिराजम ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा डर सुनाने वाला बनाकर भेजा अल्लाह की तरफ अल्लाह के रीजन से बुलाने वाला बनाकर भेजा और आप एक ऐसा सूरज हैं जो दूसरों को रोशन करने वाला है दूसरों को रोशन करने वाले हैं तो यहां पर है इन्ना और सल्ला का शाहिदन हमने आपको गवाह बनाकर भेजा तो हजू सल्लल्लाहु अलैहि तमाम लोगों पर गवाह है अब आप बताइए कि जिसने देखा ना हो वो गवाही दे सकता है जिसने देखा ना हो वो गवाह बन सकता है तो शाहिदन के तहत तमाम ही मुफसरीन ने लिखा कि प्यारे आका सल्लाह वसलम शाहिद इस वजह से हैं कि आप उम्मती के हर हर अमल को देख रहे हैं और उसकी नीयतों से वाकिफ हैं तो आप फिर कल बरोज क्यामत गवाही देंगे सुर फील की इब्तदा में है अलम तरकईफ रब कभी असहाबिल फील अरबी जबान का ये उसलूब है शायद ये उर्दू में पाया जाता हो कि किसी ने किसी बात को देखा हो और हम गुफ्तगु करें तो हम कहते क्या तुमने देखा नहीं उसने क्या हरकत की या क्या मामला हुआ तो क्या तूने देखा नहीं ये जुमला ये बताता है कि उसने देखा हुआ है तो अरबी में भी अलम तरा वहां पर आता है उसके लिए कहा जाता है कि जिसने ये मामला देखा हो क्या आपने न देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया ये वाक़ हजूर की पैदाइश से पचास दिन पहले या पचपन दिन पहले हुआ तो हजूर सल्ला वसलम को अल्लाह ने माजी का भी इल्म अता फरमाया और आपने माजी को भी देखा सूर्य फजर आयत नंबर छ तीसवा पारा चौदवा रुकू अलम तरकईफ फ़ाल रब कभी आद क्या आपने न देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया कौम आद रसूलुल्लाह की पैदाइश से हजारों साल पहले गुजरी है तो अल्लाह तबारक व ने सबसे पहले अपने महबूब का नूर पैदा किया और उस नूर से सारी कायनात बनाई वो नूर जलवा अफरोज था और जितने वाकयात होते रहे उस नूर के सामने हुए इस मानव में मेरे आका ने हर वाक्य को देखा हुआ है सूर्य अहजाब आयत नंबर छह इक्कीसवा पारा सत्रहवा रुकू अन नबी यू अवला बिलमिन मिन अनफुसिन अवला के माना है करीब तर ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है हमारी जान कहाँ है कितनी करीब है हम उसका कुर्ब बता नहीं सकते तो आप सोचें हमारी जान इतनी करीब है तो कुरान फरमाता है ये नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है तो जो जान से ज्यादा करीब होगा वो सारे अहवाल से वाकिफ है शिफा शरीफ जो काजी अयाज अल रहमा की किताब है उसमें लिखा इलम यकुन फिल बैती आहदुन फ़कुल असलम नबी व रहमतुल्ला वबरक अगर कोई घर में दाखिल हो और घर में कोई भी ना हो तो उसे चाहिए कि वो कहे सलाम हो आप पर ए नबी और अल्लाह की रहमतें आप पर हों और अल्लाह की बरकतें हों अल्लामा अली कारी जो मुदरस मदीन मुनवरा और सदियों पुराने ऐसे बुजुर्ग हैं दुनिया इनकी बुजुर्गी को तस्लीम करती है आप शिफा शरीफ की शरह में लिखते हैं लेन्ना रूह नबी सल्लल्लाहु हादिर फी बुयूत अहल घर में दाखिल होकर हजूर को सलाम पेश करने की वजह यह है कि मुसलमानों के घरों में रसूलुल्लाह की रूह मौजूद होती है मिरकात शरीफ जो मिशकात शरीफ हदीस की शरह है उसमें मुहदस कबीर अलामा अली कारी फरमाते हैं वकाल अल गजाली इमाम गजाली रहमा फरमाते हैं सलिम अलह इजा दखल तफिल मसाजिद फ़ैन नहू यह यहदुरुफिल मसाजिद जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिदों में दाखिल होते वक्त रसूल्ला को सलाम ज़रूर पेश करो कि रसूल्ला मस्जिदों में मौजूद होते हैं इससे मुराद आपकी रूह मौजूद होती है इससे मुराद आपकी रूहानी तवज्जो होती है शिफा शरीफ काजी अयाज दूसरे जिल्द में फरमाते हैं अन अलकमत रदी अल्लाह तु हजरत अलकमा रदी अल्लाह तु से रिवायत है इधर दखलतुलमस्जिदा वो कहते हैं जब भी मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ अकूल असलम नबी वरहमत ला वरकू तो मैं मस्जिद में दाखिल होकर कहता हूँ सलाम हो आप पर ए नबी अल्लाह की रहमतें हों और अल्लाह की बरकतें हों एहयाल पहली जिल्द बाब नंबर चार फसल नंबर तीन हजरत इमाम गजाली रहमा की किताब है एहियालूम पहली जिल्द बाब नंबर चार फसल नंबर तीन आपने नमाज के बातनी आदाब लिखे कि नमाज के एक जाहिरी आदाब है एक बातनी आदाब है तो हजरत इमाम गजाली लिखते हैं वह अहदिर फी कल्बी का नबी सल्लाम व शख्स करीम वकुल अस्सलाम नबी व रहमतुल्लाह व आपने फरमाया कि जब तुम अतयात पढ़ो तो अस्सलाम युहन नबी बगैर तवज्जो के मत पढ़ना तुम ये तस्वुर करना कि रसूलुल्लाह हाजिर हैं और मेरे सलाम को सुन रहे हैं फिर कहना असलम यूहन नबी ए नबी आप पर सलाम हो अल्लाह की रहमतें हों और बरकतें हों किताब जिलाउल इफ़हाम ये किताब इबन कईम ने लिखी है और इबन कईम शागिर्द हैं इबन तैमिया के और इबन तैमिया को नजदी बहुत ज़्यादा मानते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार इबन तैमिया को शेख इस्लाम कहते हैं इसी तरह तमाम वो फ़िरक़े कि जो रसूलुल्लाह की अजमत के कायल नहीं है रसूलुल्लाह की शान के कायल नहीं है वो सारे इबन तैमिया की शान के कायल हैं और इबन कईम की शान भी मानते हैं और वो ये समझते हैं कि मुसलमान तो यही थे और इस दौर में जितने ओलमा थे सारे मुशरक थे नऊजबिल्लाजालिम तो चले अब देखें इबन कईम जो इनके नज़दीक एक मुस्त शख्सियत है वो अपनी किताब जिलाउल जो आज भी बैरूत से छप रही है पूरे आलम इस्लाम में ये बांटते फिरते हैं सफा नंबर 73 उसमें वो हदीस लिखते हैं हदीस नंबर 108 लई समिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सऊतु हई सुकान रसूलुल्लाह ने फरमाया जब भी कोई शख्स मुझ पर दुरूद पड़ता है तो वो जहां से भी पढ़े मैं उसकी आवाज सुन लेता हूं कुल्ला बाद वफाती का साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके विशाल के बाद भी कौल व बाद वफाती आपने फरमाया हाँ मैं विशाल के बाद भी सुनूंगा और जिलाहुल इफहाम ये जो इबारत थी ये इसी सफ़े की थी और इसी सफ़े पर दूसरी हदीस उन्होंने लिखी इबन कईम ने कि फ़नी असनाऊ सलातिकुम बिला वासितिन ये ज़रूर है कि एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर खड़ा होगा और जो सलाम पेश करता है जो दरूद पेश करता है वो फ़रिश्ता मुझे दरूद पेश करता है पेश करने वाले का नाम लेकर उसके बाप का नाम लेकर लेकिन ये इसलिए नहीं कि मैं सुनता नहीं हूं उन्होंने हदीस लिखी पन्नी असमाउ सलातिकुम बिला वासी ततिन मैं तुम्हारे दरूद सलाम को बगैर वास्ते के सुनता हूं ये तमाम अदीस और तमाम रिवायतें और बुजुर्गान दीन के अकवाल हमें ये बताते हैं कि नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि हयात हैं अल्लाह ने आपको जो हयात अता फरमाई वो शहदा की जिंदगी से अफजल आला है शहदा की जिंदगी से ज्यादा ताकतवर है आप कब्र अनवर में जलवा अफरोज हैं और आप कब्र अनवर से सारी कायनात को मुलाजा फरमाते हैं और आपकी रूहानी तवज्जो खास तौर पर मुसलमानों के घरों में है मुसलमानों की तरफ आपकी तवज्जो खास है और जहां आप जाना चाहें बीज जा सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म के खजाने अता फरमाए ये सारी बातें कुरान से साबित हैं अहादीस तय्यबा से साबित हैं बुजुर्गान दीन के अखबाल से साबित हैं बस फर्क ये है कि एक इंसान के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती है तो वो कुरान और हदीस के दलाइल जल्दी समझ जाता है और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं होती वो इतने दलाइल सुनने के बाद भी उसकी समझ में बात नहीं आती इसको एक मिसाल से हम पेश करते हैं कभी आपने अंदाजा लगाया होगा कि जो लोग रसूलुल्लाह की शान नहीं मानते उनमें से बाद लोग ऐसे हैं कि उनके सामने आप मलकुल मौत की शान का जिक्र करें और कहें कि मलकुल मौत को अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो एक जगह मौजूद रहकर पूरी दुनिया को देखते हैं और एक साथ हजारों आदमियों की रूह कब्ज करने के लिए हजारों जगह में एक साथ पहुंच जाते हैं तो कोई आपसे लड़ेगा नहीं झगड़ेगा नहीं फिर आप कहें कि मुनकर नकी जो फरिश्ते हैं दुनिया जहां में जहां भी खो खोदी जाए तो ये दो फरिश्ते हर जगह पहुंच जाते हैं और बैक वक्त पहुंच जाते हैं तो कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा आप शैतान के मुतालिक कहना शुरू कर दें और आप कहें कि जो बड़ा शैतान है इबलीस लईन उसे ये ताकत मिली हुई है कि वो पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हो सबको एक साथ देखता है सबकी बातों को सुन भी लेता है बल्कि हमारे दिल में जो ख्याल आते हैं वो उसको भी जान लेता है तो बड़ा ही मलून है ये और हम दिल में कोई ख्याल करते हैं बहकाने के लिए आ जाता है वहीं से बहका देता है और हर जगह पहुंच भी जाता है तो कोई आपसे दलील नहीं मांगेगा कोई आपसे लड़ेगा नहीं मुनाजरे का चैलेंज नहीं करेगा फिर आप अपनी नशे खत्म कर दें फिर चंद दिनों के बाद उसके पास पहुंचे और कहें कि हदीसी पाक है लेकिन ये हदीस है फुला फुला किताबों में लिखी है चाहे तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि मुझ पर कोई कहीं से भी दरूद पड़े मैं उसके दरूद को सुनता हूँ वो नहीं मानेगा वो कह गए तो शिरक है हुजूर हर जगह से दुरूद सुन लें ये तो शिरक हो गया ये तो बिदत हो गई हाँ एक फरिश्ता जरूर है वो फरिश्ता कबर पर मौजूद है वो सबका दुरूद सुनता है तो आप उससे पूछे की फरिश्ता पूरी कायनात की आवाज सुन ले तो ये शिरक नहीं और रसूलुल्लाह सुन ले तो शिरक है मलकुल मौत देख लें और सुन लें और पहुंच जाए तो शिरक नहीं शैतान देख भी ले सुन भी ले और दिल के इरादों को भी जान ले तो ये तोहीद है इसमें कोई शिरक नहीं और रसूलुल्लाह की शान बयान की जाए तो आपको फौरन शिरक याद आता है आप सीधा सीधा कह देना कि मैं हर एक की शान मान लूंगा रसूलुल्लाह की शान नहीं मानूंगा तो यही बात है ना कभी किसी ने शैतान के इल्म पर मुनाजरा नहीं किया कभी मलकुल मौत की ताकत पर मुनाजरा नहीं किया चैलेंज किसको किया जाता है रसूलुल्लाह की जात को और मोमिन जो रसूलुल्लाह का आशिक है जो रसूलुल्लाह का उम्मती है मुझे बताइए वो रसूलुल्लाह की शान सुनकर जल सकता है वो तो खुश हो जाए दूसरा वाकया ये तो एक फर्जी मिसाल थी जो हमारे बहुत सारे तजर्बे से गुजरी है और दूसरा तो सच्चा वाकया है हमारे दोस्त हैं ये वाकया हमने आपको इससे पहले भी सुनाया था वो कहते हैं कि एक शख्स था उसने जो है रसूलुल्लाह के बारे में एतराजा किए हजूर को ये नहीं पता हजूर ये नहीं जानते फला फला फला तो उसके सामने वाले दोस्त ने कहा कि तो यार तो ये क्या हो गया है तू पहले ऐसी बातें तो नहीं करता था लगता है तू गलत लोगों में उठने बैठने लगा है उसने कहा ये बातें छोड़ो मुझे जवाब दो तो वो जो आशिक रसूल था उसने कहा देखो मैं आलिम नहीं हूं मुझे तुम जो है ना तीन दिन की मोहलत दो तीन दिन तक मैं दलाइल जमा करूंगा और फिर हम बात करेंगे उसने कहा ठीक है मैं मजीद दलाइल जमा करूंगा सामने वाले ने कहा तीन दिन गुजर गए तीन दिन के बाद मुलाकात हुई या दो दिन के बाद मुलाकात हुई वो बड़ा सीना तान के कहने लगा हाँ क्या हुआ देख लिया उसने कहा यार मैं एक बात पूछता हूँ ये बताओ कि ये तूने तीन दिन कैसे गुजारे उसने कहा मैंने दलाइल ढूंढे कि रसुल्ला को ये नहीं पता रसुल्ला ये नहीं कर सकते वो ये वो सारी बातें ढूंढी है उसने कहा देख तेरे तीन दिन तू रसुल्ला का उम्मती है उम्मती होने के बावजूद तेरे दिन रसूलुल्लाह के ऐब ढूंढने में गुजरे और मेरे तीन दिन ऐसे गुजरे हैं कि मैं समझता हूं यही तीन दिन मेरी नजात का बाइस हो सकते हैं मैं तो क्या करता रहा मैं सारा सारा दिन ढूंढता रहा रसूलुल्लाह की शान कुरान से हदीस से ओलामा की किताबों से जो कोई आलिम मिलता जो कोई पढ़ा लिखा शख्स मिलता उससे सवाल करता यहाँ तक कि जब मैं सोता था तो इसी तस्वुर में सो जाता था और उठता था तो यही फिक्र थी तो मेरे तीन दिन रसूलुल्लाह की शान ढूंढने में निकले और तेरे तीन दिन उस जात के ऐब ढूंढने में निकले जिसे अल्लाह ने बेऐब पैदा किया तो ये बता कि उम्मती के लिहाज से एक उम्मती को कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए तो वो चूंकि इतना पक्का नहीं था अभी थोड़ी थोड़ी बदअकीदा लोगों की सोबत मिली थी इसकी समझ में बात आ गई यूं समझे इसके दिल पर अभी मोहर नहीं लगी थी और वो बुग्ज रिसालत कि कालक नहीं लगी थी ये रो पड़ा और कहने लगा तूने मेरी आंखें खोल दी यार एक उम्मती की तो यही जिंदगी है कि जिंदगी बसर हो जाए मैं रसूलुल्लाह की शान ही ढूंढता रहूं मुझे याद हो तो रसूलुल्लाह की शान की आयतें हदीसें याद हों अल्लाह ताला हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमाए और बदअकीदगी से महफूज फरमाए हाथ उठाकर दुआ कीजिए या मुकल्लिब कलूम वसबित कलबी अला दीनिक या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी अला दीनिक ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी आता फरमा या मुकल्लिब अलकलूब सबित कलबी सब्बित कल्बी अला दीनिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے مالک तेरे बंदे तेरी बंदियां अपने काम काज छोड़कर अपनी मसरूफियात को तर्क करके अपनी नींद की कुर्बानी देकर तेरी मोहब्बत में तेरे प्यारे कलाम की मोहब्बत में रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने ईमान के तहफ़ के लिए यहाँ पर हाजिर हुए ए अल्लाह जो कदम इस राह में उठे और जो लम्हा तो जो सेकेंड इस राह में हमने सर्व की ए परवरदिगार हर हर कदम के बदले हर हर लम्हे हर हर सेकेंड के बदले दोनों जहाँ की करोड़ों रहमतें बरकतें नेमतें अता फरमा हर मुश्किल को आसान फरमा हर मुसीबत दूर फरमा हर बला दूर फरमा हर कर्ज को दूर फरमा जिसका लेना है लेना आसान फरमा जिसका देना है देना आसान फरमा रोजी रोजगार में बरकतें नसीब फरमा हराम कमाई से बचा तंगदस्ती से बचा लोगों की मोहताजी से बचा लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचा ए अल्लाह हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना बे औलादों को नेक साल औलाद अता फरमा रिश्तों की रुकावटें दूर फरमा जिनके रिश्ते हो गए आसानी अता फरमा जो अपने घरों में सुख अता फरमा ए अल्लाह हमारे घराने को जन्नती घराना बना दे बीमारों को शिफा अता फरमा जादू टोने नजर बद और आसिफ से महफूज फरमा दुश्मनों की दुश्मनी हासिदों के हसद जालिमों के जुल्म मुफसदीन के फसाद से महफूज फरमा ए अल्लाह जो दुआएं की हैं जो आइंदा करेंगे जो बेहतर हो सब हमारे हक में कबूल मंजूर फरमा ए अल्लाह तू हमें अपनी और अपने हबीब की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमा ए अल्लाह करीम परवरदिगार हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत का तस्वुर अता किया ए अल्लाह इसी अकीदे पर साबित कदमी नसीब फरमा बदअीदगी से बदअीदा लोगों से उनकी दोस्ती से और उनसे मेल जोल से हमें महफूज फरमा हमारी नस्लों को महफूज फरमा हमारी औलाद को महफूज फरमा हर मुसलमान को महफूज फरमा ए अल्लाह साहब कराम की तरह हर मुसलमान को इश्क रसूल का गहवारा बना दे हर मुसलमान को इश्क रसूल अता फरमा अल्लाह ये सारी दुआएं تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين